श्रीराम जय शिक्षा का ये जो मासिक सत्संग है ये एक वर्ष हो गए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइया हो और हनुमान चालीसा के ये जो बारह प्रवचन सत्संग रहे हैं इतनी हनुमान चालीसा की गुणता है कैसे यहाँ पूरा गागर में सागर है ये इसका प्रमाण ये मिलता है कि आज अगस्त 2014 के महीने में हम लोग पहली चौपाई से ही रखे हुए हैं दो जो है वह दो है हम लोगों ने उनको अध्ययन करा चिंतन करा जुगाली करी जिससे गाय जो है चारा खा के जुगाली करती है उसका और रस मिलता है वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इस दिव्य से सिद्ध से ग्रंथ पे इस रचना के ऊपर भगवान की असीम कृपा से हमारे गंगेश्वर महादेव जी की असीम कृपा से हम लोगों ने भी खूब आनंद लिया है और आज जो है यहाँ हम लोग इसी चौपाई के ऊपर आगे चलते हैं ये जो पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर केवल इतने ही पहलू पर भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं पिछले बार हम लोगों ने ये देखा था कि देखिए हनुमान जी को बहुत भिन्न भिन्न रूपों से सब लोग जानते हैं पहलवान लोग जानते हैं कि जय बजरंग बली और अखाड़े अखाड़े में उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं बोलते अरे भाई कोई ऐसा वैसा वेट लिफ्टिंग छोड़ो हनुमान जी जैसा पहाड़ उठा कर इस प्रकार से कोई बलवान हो अकेले वन मैन आर्मी जाके पूरी लंका के अंदर मुसीबत कर दिया ऐसे बलवान तो कोई बल की प्रेरणा लेते हैं कोई भक्ति की प्रेरणा लेते हैं कि ऐसी भक्ति भले सुग्रीव के प्रति उनकी जो है दोस्ती रही निष्ठा रही श्रद्धा रही समर्पण रहा हर जगह जहां पर गए वो किंग में कर रहे हनुमान जी ही किंग में कर रहे सुग्रीव को राजा बनाने वाले अगर पीछे कोई एक व्यक्ति थे तो हनुमान जी थे और विभीषण जानते हैं कि अगर हमको लंका का राज्य मिला तो उसके पीछे भी हनुमान जी का यहाँ था और सही बात है कि भगवान श्री राम को भी अयोध्या तक सकुशल पहुंचाने के लिए और पुनः गद्दी अयोध्या की जो है ग्रहण करने के लिए अगर किसी को हनुमान जी तो नहीं स्वीकार करेंगे उनसे पूछो तो बोलेंगे अरे क्यों भाई हमारी तुम सेवा के ऊपर आक्षेप कर रहे हो लेकिन जो भगवान श्री राम के भी वचन थे कि हे हनुमान तुम्हारा ऋण कैसे उतारे हम हम उऋण कैसे हो तुम्हारे प्रति अगर आज तुम नहीं होते तो हम तो शायद जाते भी नहीं आगे हमारी कोई प्रेरणा नहीं होती हमारे भाई खत्म हो जाते विभीषण से पूछो लक्ष्मण से पूछो सीता जी से पूछो सुग्रीव से पूछो किसी से पूछो सब बोलते हैं कि हमारा जो जीवन है वो हनुमान जी की कृपा से है यद्यपि जहां पर भी रहे सब लोगों को इतना उत्कर्ष प्रदान करा लेकिन खुद तो सेवक रहने में ही सौभाग्य प्राप्त करते हैं राजा बनाने वाले हैं लोगों को गति देने वाले हैं समस्त संपन्नता ऐश्वर्य देने वाले हैं लेकिन खुद अपने अंदर कोई सेवक बनने में मस्त रहने वाले जैसे इतना बड़ा कोई खजाना हो कि ये सब चीजें बड़ी छोटी हो जाती है ऐसा बड़प्पन हो कि उनको ये सब करने की प्रेरणा ही नहीं है बल्कि दूसरों से कहते हैं कि अरे भाई दूर से अच्छा लगता है कि अगर काश हम भी प्राइम मिनिस्टर होते अब वो तो मोदी जी से पूछो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बेचारों को तो जो है वहां पूरे देश को तो जो कि दिन में पांच पांच उनके भाषण सुना करते थे बोलती सुनना जो है दुर्लभ हो गया और यहां तक कि उनका उठना बैठना खाना पीना सब जो है वह विश्वास यद्यपि उनकी रुचि है उनको खुशी है लेकिन आसान नहीं है कितनी चुनौतियां हैं अगर जो है वह पाकिस्तान को बुलाए तो मुसीबत ना बुलाए तो मुसीबत अगर ये सब फलाने मंत्री को ले तो मुसीबत ना ले तो मुसीबत अडवाणी जी को ले तो मुसीबत ना ले तो मुसीबत बहुत बड़े बड़े कड़क निर्णय करने पड़ते हैं ये राजा बनना कोई आसान नहीं है यहाँ पर कि सेवक बने रहो खूब दिलो जान से सेवा करो अगर जो है जरूरत पड़े तो राजा बनाने का सामर्थ्य रखो किसी को हनुमान जी का व्यक्तित्व बड़ा अद्वितीय सा है विलक्षण सा है दिव्य सा है उनको जो है कुछ लोग बोलते हैं देखो सेवक हो तो हनुमान जी जैसा भक्त हो तो हनुमान जी जैसा योगी हो तो हनुमान जी जैसा लेकिन यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी जो हम लोगों को हनुमान चालीसा दे रहे हैं उन्होंने श्री गणेश करा हनुमान चालीसा का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो उनकी जो है बाकी बल भक्ति शरणागति सेवा बोलते ये सब आ जाता है ये तो परछाई की तरफ हनुमान जी की तरफ आता है वो सेवा करते हैं सेवा का अभिमान ही नहीं होता है अगर भगवान भी तारीफ करे तो बोलते भगवान क्यों हमारी जो है यार लेग कर रहे हमने क्या करा है ये सब आपकी कृपा है कुछ ऐसा ज्ञान है उनके अंदर कि सेवा करने के बाद भी सेवा का अभिमान ही नहीं है कुछ इतना भजन करते हैं कि वहां पे पूरा जीवन समर्पित हो गया है ब्रह्मचारी रहते हुए जिस समय राम जी जो है यहाँ से सिधार रहे थे अपने अवतार के इस पूरे लीला से सबको अपने धाम ले चलने के लिए बोला हनुमान जी तो बोलते प्रभु हमको यही आशीर्वाद दीजिए यहाँ रहते हुए आपके हम भजन करते रहे लोगों को भी यही ज्ञान देते रहे उनको जीवन में आशीर्वाद देते रहे पथ प्रदर्शन करते रहे यहीं पर है कि हम आपका भजन करें बस यही आशीर्वाद चाहिए ऐसे भक्त लेकिन वहां पे गोस्वामी जी जो हमको उनका परिचय दिला रहे हैं रामायण में अगर हम लोगों को किसी ने परिचय दिलाया तो अपने गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी नजरें क्या है उनके अंदर प्राथमिकता क्या है वो किस नजरों से हनुमान जी को देखते हैं बोलते हैं हम तो यही कहेंगे भैया कि हनुमान जी को जब देखो तो ये सब छोटी मोटी चीज से मत देखो फिर तुम समझ नहीं रहे हो यद्यपि वो सेवक हैं बलवान हैं इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन राज वो नहीं है अगर तुमको हनुमान जी का राज समझना है उनका रहस्य जानना है तो तुमको और गहराई में जाना पड़ेगा वो ज्ञान और गुण के सागर है सदैव हनुमान जी को इस नजरों से देखो तब तुम हनुमान जी को समझ पाओगे हम लोग पिछली बार भी देख रहे थे हनुमान जी की बड़ी महिमा है बहुत भगवान श्री राम के प्रति भक्ति है इसमें कोई शंका नहीं है लेकिन उनकी भक्ति बड़ी निराली है हम लोग जिस समय भजन करते हैं तो देखिए हम भगवान का भजन करते हैं भक्ति करते हैं क्या करते हैं भगवान का विग्रह लेते हैं भजन करते हैं पूजन करते हैं षोडश उपचार करते हैं जो हमारी संस्कृति है जो हमारे धर्म है हम किसी साधन का आश्रय लेके अपने आराध्य की सेवा करते रहते हैं हनुमान जी की भक्ति कुछ अलग है जिस समय भगवान श्री राम ने वो पूरा वाली का प्रकरण हो गया था और बरसात का मौसम चालू हो गया था चातुर्मास चालू हो गया था भगवान श्री राम जो है वन में चले गए थे बोला हम यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे मौसम ठीक हो तो है सुग्रीव अपनी सेना को लेके सीता जी का जो है वह खोज करना है यही हमारी इच्छा है तो उन्होंने वचन दिया था जैसे महाराज जी मौसम ठीक होगा हम सब लोग चारों तरफ लग जाए सुग्रीव की सेवा में तीन महीने चातुर्मास के जो थे हनुमान जी लगे रहे वन में ही थे राम जी किशकिधा से थोड़ी दूर पे ही उनका वास था लेकिन तीन महीने तक वो गए नहीं उनके पास वो सुग्रीव की सेवा में लगे रहे वो बोलते ये हमारा जो है कर्तव्य है हमारा धर्म है भी हमारे हृदय में राम जी हैं लेकिन ये नहीं है कि आज तो वीकेंड है आज तो जो है सप्ताह के जरा आते हैं सूर्य देव एक दिन की छुट्टी दे दो राम जी को राम राम करके आते हैं उनकी चरण सेवा कर और वो जो कि संजीवनी बूटी लेने के लिए सुपरसोनिक जो है स्पीड से जाके आ जाते थे जंगल के थोड़ी दूर रहते हुए राम जी की क्या सेवा के लिए हर राम को रात को नहीं पहुंच सकते थे उनके चरण दबाने के लिए उनके अन्य कार्य करने के लिए लेकिन हनुमान जी की भक्ति कुछ लाली है हम लोग जो तो सोचते हैं कि हनुमान जी की भक्ति ऐसी होती है वैसी हनुमान जी की भक्ति नहीं गोस्वामी जी यहाँ बताते हैं कि समझो भैया तुम्हारी भक्ति का रहस्य अलग है हनुमान जी की भक्ति ही निराली है इसका रहस्य जानने के लिए गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन चतुर्विधा भजनते माम चार प्रकार के भक्त होते हैं हमारे एक होते हैं जो भगवान को ऊपर से श्रद्धा रखते हैं बहुत मुसीबत आती है तो भगवान के पास ही जाते हैं भगवान अब ये दे दो वो दे दो ये मुसीबत वो मुसीबत भगवान आप ही तो बेड़ा पार करेंगे हम्म? तो वो लोग भगवान को भी सतही रूप से देखते हैं अर्थार्थी भक्त होते हैं कोई भी अर्थ की प्रार्थना करनी हो अर्थ की प्रार्थना करते उनको अर्थार्थी भक्त बोलते कुछ होते हैं आर्थ भक्त होते हैं सामान्यतः तो अपने खूब मेहनत से करते अगर आपने जीवन दिया हाथ दिया पैर दिए अकल दी बाबू दी हम आपके ही भक्त बन के कार्य करते हैं लेकिन कई बार हमसे समझा नहीं जाता है पानी हमारी नाक के ऊपर आने लगता है असहाय हो जाते हैं द्रौपदी की तरीके से निराश्रित हो जाते हैं तब जाके तीव्र आर्त वेदना करते हैं उनको बोलते हैं आर्त भक्त तीसरे भक्त होते हैं जिज्ञासु भक्त उनको कोई कष्ट नहीं है कोई मुसीबत नहीं है लेकिन बहुत भजन कर रहे हैं और एक ही मात्र प्रार्थना है कि भगवान हमारा ज्ञान हो आपका ज्ञान हो रहस्य जीवन का ज्ञान हो जीवन की पहेली हम समझ जाएं कोई भी शिष्य जब किसी गुरु के पास पूरे संसार से वैराग्य लेके जाता है वो जिज्ञासु भक्त होता है संसार को ठोकर मार के जाता है सन्यासी बन के जाता है विरक्त होके जाता है बहुत बड़ा भक्त है भगवान को जानने के लिए प्रवृत्त है उसको हम अर्थार्थी नहीं कह सकते आर्त नहीं कह सकते उनको जिज्ञासु भक्त कहा जाता है लेकिन एक चौथे भक्त होते हैं अर्जुन वो होते ज्ञानी भक्त और गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन ज्ञानी तू आत्मैव में मतम वो तो हमारी आत्मा होता है वो हमसे अलग ही नहीं है कभी वो बहुत निराला भक्त है सदैव हमसे जुड़ा रहता है बाकी भक्तों की तो ये स्थिति होती है कि भगवान हम तो छोटे जीव हैं और आप हमसे अलग हैं तो भगवान से उन लोगों का जो है वह एक दूरी बनी होती है ज्ञानी भक्त बोलता है कि जो ये जीव भाव है ये तो ईश्वर का अंश है हम भगवान से अलग ही नहीं है ये उसका निश्चय होता है और इसीलिए उसकी भक्ति का तरीका ही अलग होता है वो मैं को ही भगवान का स्वरूप समझता है इसीलिए कभी अलग जाना नहीं कुछ करना नहीं और दिव्य जीवन जीना जैसे भगवान जी रहे हैं वैसे उनका जीवन होता है रावण का भी प्रसंग याद रखिए जिस समय रावण ने हनुमान जी से पूछा भाई कौन बल देता है तुमको इतना डरते नहीं हमसे आज तक ऐसा हमने सीन नहीं देखा है कि कोई आंख से आंख मिला के हमसे बात कर रहा है मुद्दत गुजर गई हाँ, शायद इस गद्दी पे बैठने से पहले कोई देखता होगा लेकिन आज बहुत सालों बाद ये हमको नजारा देख रहा है कि कोई निडरता से उसके चेहरे पे रत्ती मात्र बह गई और हमसे आंख मिला के बगैर पलक झपके हुए कोई देख रहा है यही हमारे लिए एक विचित्र अनुभव है एक्सपीरियंस ही अलग है तुमको डर नहीं लग रहा है हम इतने बड़े आतंकवादी हैं हमारी आतंकवादिता का कचरा कर दिया है तुमने जब तक आतंकवादी के सामने कोई आदमी डरे नहीं आतंकवादी का तो जैसे सब स्वच्छ हो गया अभी देखो डराने के लिए आइसिस वाले लोग इराक वगैरह में क्या कर रहे हैं काले काले कपड़े पहन के आते हैं उनकी महिलाएं भी बुरका पहनती है आदमी लोग भी बुरका पहन के आते हैं और वो काले कपड़े लेके कैसे काट देते हैं और ऐसा सीन वीडियो दुनिया को दिखाते हैं क्यों दिखाते हैं डरा करो भैया हमसे डर जाना हम बड़े खतरनाक हैं वो धीमे धीमे अपनी इमेज बनाते हैं कि हम बहुत खतरनाक हैं और ऐसा उनका जो खतरनाक मंडली का जो पूरा बॉस है वो बैठा हुआ है और हनुमान जी के कोई डर नहीं कोई चिंता नहीं उसका तो कचरा हो गया हनुमान जी ने जवाब दिया है कि भाई रावण जिनके शक्ति के लवलेश से तुमने तीनों लोक जीत लिए हैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास बहुत शक्ति है लेकिन ये शक्ति किसी ने दी है ना तुमको जो शक्ति के धाम है जिन्होंने तुमको एक तिनका भर शक्ति दी है और तुमने इतना कुछ कर लिया हम उस शक्ति के धाम के दूत हैं अपनी अस्मिता देखिए उनका मैं का ज्ञान देखो अपने आप को भगवान से कभी अलग नहीं देखते जिस समय चुनौतियां आई हैं मुसीबत आया है ऐसे भयंकर आतंकवादी देवता लोग भी बेचारे डरे हुए देवताओं ने तो प्रार्थना भगवान से करी थी राम जी को क्यों गद्दी नहीं लेने दी थी उस समय पूरा देवताओं ने षड्यंत्र करा बिचारी मंथरा की जवान फिसला ली थी देवता लोग काफी जो है कई बार गड़बड़ काम करते हैं और ये देवता जो है ना भौतिक स्तर पे उनको नेता कहा जाता है नेता लोग भी बड़े तिगड़ नहीं होते खुद नहीं आते हैं लेकिन करवा देते हैं काम किसी से आज ही दैविक स्तर के ऊपर देवता लोग पूरी प्रकृति के संचालन में ईश्वर के सेवक होते हैं पुण्यात्मा जीव होते हैं वो बहुत महान होते हैं भगवान के द्वारा चूज एंड फ्यू होते हैं लेकिन कोई सिद्ध नहीं होते कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते उनकी भी सिक्योरिटीज होती है देवताओं के राजा इंद्र को अगर कोई निन्यानवे अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उनकी रात की नींद खराब हो जाती है कामदेव का अपॉइंटमेंट देते हैं नेक्स्ट डे बोलते आना जरा मिल लेना क्या हो गया महाराज अरे तो देख रहे यार इसमें इतने सारे निन्यानवे पहुंच गया एक और कर लेगा कुर्सी गई हमारी कुछ करो तो काम भी बोलता है yes thy will be done जो आज्ञा है शिरोधार है तो जाके कामदेव जी अप्सराओं की उनकी टोली है पवन है और सुगंध है और भोजन है वो सब वातावरण बना के मन में कामना उत्पन्न करके समाधि भंग करते हैं उनके ये साधना भंग करते हैं तब जाके वो शांत होते हैं तो देवताओं के जो सिरमौर हैं उनके अंदर सुरक्षा रहती है देवताओं में कितनी रहती होगी इस हिसाब से ये मत समझना कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए देवता लोग ही हमको आशीर्वाद देते हैं अगर हम बोल पा रहे हैं तो वाणी के देवता हैं हमको इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं आप सुन पा रहे हैं तो आपके कान के देवता हैं जिनकी से आप सुन पा रहे हैं ये देवता का जो सिद्धांत है ये हम लोगों के सनातन धर्म का बहुत विशेष सिद्धांत है ये दुनिया में किसी भी धर्म में नहीं सिर्फ दुनिया वाले नहीं समझ पाएंगे हिंदू ही समझ पाते हैं बाकी तो बाहर के आते हैं बोलते हैं तुम लोग का बड़ा विचित्र धर्म है हमारे वहां सिंपल काम है एक देवता एक ग्रंथ एक साधन देखिए तुम्हारे वहां दस देवता सैकड़ों देवता सैकड़ों साधना सैकड़ों जो है पर्व कैसा कंफ्यूजन है यहाँ पे बोलते हैं कोई कंफ्यूजन वन्फ्यूजन नहीं है तुम्हारी दृष्टि में कंफ्यूजन है हमारे वहां सब बड़ी व्यवस्था है हमारे वहां भगवान जो है वह देवादि देव उनके ये सब सेवक लोग होते हैं हर जगह कोई ना कोई देवता होते हैं और सब उनके प्रति निष्ठ होते हैं हम हाँ, ये जो रहते हैं अच्छे हैं दिव्य हैं लेकिन कुछ अपनी कमियां भी होती हैं के अंदर असुरक्षाएं भी होती ये भी धीमे धीमे उसी ब्रह्म ज्ञान की तरफ जैसे हनुमान जी के अंदर ज्ञान है वैसे ज्ञान के लिए देवता लोग भी प्रवृत्त होते रहे मेहनत करते रहते तो कुछ बहुत दिव्य ज्ञान है हनुमान जी के पास न चिंता न डर न अभिमान कोई भी वो विकार नहीं है जो इंसान को अनेकों क्लेश और विकार प्रदान करता है इसीलिए हनुमान जी की प्रारंभ में प्रार्थना करते हुए कहा था ना बल बुद्धि विद्या देव मोही हर कलेश विकार भगवान आपके अंदर ना कोई क्लेश है ना विकार है ये तो हम देखते हैं आपकी लीलाओं और इससे हमको बहुत प्रेरणा मिलती है भगवान आप जैसा बने कि मन में क्लेश ना आए विकार ना आए वो कैसा ज्ञान है कौन सा ज्ञान है आपके अंदर और इतने अथाह आपके अंदर गुण हैं जहां पर भी जाते हैं आप कार्य सिद्धि अवश्य भागी है ये तो बस उनका संकल्प की देरी है जो कार्य हनुमान जी ने सोच लिया वो कार्य सुस्त हो गया और इसीलिए हनुमान चालीसा में हम लोग आगे भी बोलते हैं कि आप तो राम दुआरे तुम रखवारे होतना ज्ञान बिन पैसारे राम जी का दर्शन और ज्ञान प्राप्त करना हो तो द्वारपाल यही है इनका ही आज्ञा से आगे जाते इतना गुण है इतना जो है ज्ञान है तो गोस्वामी जी हमको प्रेरणा देते हैं कि अगर तुमको हनुमान जी का रहस्य समझना है सार समझना है तो उनका इसी प्रकार से चालीसा बोलो समझो इसका महत्व तो जानो हनुमान जी को ज्ञान और गुण का सागर देखो कुछ बहुत विशेष ज्ञान है अगर तुम भजन करते करते तुमने उस ज्ञान की प्रार्थना नहीं करी तो हनुमान जी इंप्रेस ही नहीं होते बोलते आदमी जो है अभी अविद्या माया से कलुषित है एक माया जो है विद्या माया होती है कविद्या माया विद्या माया वो होती है जो हमको हनुमान जी जैसों के ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रवृत्त करती है और विद्या माया वो होती है जो ज्ञान के लिए जिज्ञासा नहीं लाती है प्रवृत्ति नहीं देती है और संसार की अनेकानेक चीजों को ही सर्वोपरि समझा देती है यही सब कुछ है और इसीलिए क्योंकि हमारी आस्थाएं इस प्रकार की हैं हम उसी में दिन रात लगे रहते हैं अगर हम किसी चीज में लगे रहते हैं तो सीधी बात यह है कि हमारे अंदर निश्चय उस प्रकार का है कि यही सही चीज यही बुद्धिमत्ता है यही कल्याणकारी चीज है हमारे ज्ञान के वजह से हमारी प्रवृत्तियां किसी दिशा में होती हनुमान जी का विशेष ज्ञान होता है सदैव इस नजरों से हनुमान जी को देखना चालू करो आज तक हमको किसी ने नहीं बताया था या हम हनुमान चालीसा डेली भी पढ़ते हो हाँ? हम लोग के वहां तो ये परंपरा है कि बचपन से सब हनुमान चालीसा सीख लेते हैं हमने तो कम से कम करेगा बचपन से सिखा दिया गया था हमारे दादाजी का बहुत बड़ा घर था इतना बड़ा घर था कि एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए कई बार बड़े अंधेरे से गुजरना पड़ता अब वहां बड़ा डर लगता है तो यही हनुमान चालीसा सिखाई गई तो डरते क्यों ये अंधेरे बरांडे से जाना है उस बंगले के उस कोने में जाना है तो हनुमान चालीसा पढ़ लो तो हनुमान जी पहुंचा देंगे उसने याद करी थी और लेकिन उसके बाद क्या खजाना मिला इसके अंदर हनुमान जी के ज्ञान का परिचय मिला हनुमान जी के ज्ञान की महिमा पता लगी और सबसे बड़ी चीज हनुमान जी की कृपा की यही थी कि ऐसे गुरुदेव मिले जिन्होंने हमको ये सब ज्ञान बताने की कोशिश करी तो ये ज्ञान जिसको ये एक बार दिमाग में हो जाए कि हनुमान जी की विशिष्टता उनके ज्ञान और गुण से है ये विचार भी आपके अंदर आ जाए तुलसीदास जी बोलते हैं हमारी हनुमान चालीसा लिखने का प्रयोजन सिद्ध हो गया पहली चौपाई है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सदैव उनको ऐसा मूर्तिमान रूप देखो कि दिव्य अलौकिक मोक्षदायी बलवान बना देने वाला मुक्त कर देने वाला भक्त बना देने वाला ऐसा ज्ञान उनके पास है ये सब ज्ञान का ही रहस्य है तो ज्ञान और गुण के सागर हैं वो कितना बड़ा शब्द प्रयोग करते हैं बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं समझना हनुमान जी के पास एक आध कोई डिग्री विग्री हो एक आध चीजों के ज्ञानी होंगे ज्ञान गुण सागर इससे बड़ी चीज और कभी क्या कह सकता है सागर हमारे लिए उस चीज की एक उपमा है दृष्टांत है जिसका और छोर नहीं पता होता है जिसने भी समुद्र के तट पे जाके कभी अनुभव करा है या कभी कहीं पे जहाज में जाते हुए हमको अंडमान निकोबार उधर द्वीप में जाने का मौका मिला समुद्र में जब जहाज में चलो आप जब तक जो है वह ओट पास में है तो जमीन गिर जाती है थोड़े समय बाद कोई जमीन ही नहीं दिखती है जहां देखो पानी पानी पानी अथा पानी चले जा रहे हैं घंटों घंटों पानी पानी कहा अंत है कहाँ और है कहाँ छोर है कुछ पता नहीं और कितनी गहराई है एक हमारे जैसे जीव के दृष्टिकोण से तो अथा है ऐसे सागर का दृष्टांत देते हुए बोलते हैं कि आप तो महाराज जी है हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं गुणों के आप सागर हैं ज्ञान और गुण ये दो चीजों के आप अनंत अथाह राशि हैं और जब भी कहीं किसी को सागर बोलो आप उसका मतलब ये है इसके बाद बाहर कुछ नहीं भैया अनंत ज्ञान है अथाह ज्ञान है इसके बाहर और कुछ नहीं है हनुमान जी को सदैव इस नजर से देखो कि जो कुछ ज्ञान जीवन में प्राप्त करने योग्य है वो ही आज हमारे सामने इस वानर का शरीर धारण करके खड़ा हुआ है विनम्रता से खड़ा भगवान के सेवक की तरीके से विराजमान है अद्भुत जो है वो नीला करते हुए लेकिन मूल रूप से ज्ञान के सागर में और गुणों के सागर देखिए ज्ञान और गुण में क्या फर्क होता है ज्ञान तो किसी रहस्य से अवगत होना होता है एक जागृति है अंदर समझ है दुनिया की पहेली आप समझ गए हैं अब अपना रहस्य जानते हैं कहाँ से आए हैं क्या है मूल रूप से किसने बनाया है ये दुनिया कैसे बनी है सुख कैसे होता है दुख कैसे होता है सफलता कैसे होती है असफलता कैसे होती सब चीजें जिसको पता है ये ये मूल चीजें हैं जानने की असली चीजें जानने की वो नहीं है कि यहाँ पे जो है वह गाड़ी कैसे चलती है ये पंखा कैसे चलता है ये भी ज्ञान है इनको हमारे उपनिषद बोलते हैं कि ये अपरा विद्या है मुंडक उपनिषद एक हम लोगों का अथर्ववेद का उपनिषद है उस उपनिषद में एक अंगीरा ऋषि जी हैं और उनके पास एक शिष्य जाता है शौनक नाम के शौनक उनके पास गए बोलते महाराज जी हमको ज्ञान प्राप्त करना है ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिसको जानने के उपरांत कुछ जानना शेष न रहे ये ओपनिंग प्रश्न है मुंडक उपनिषद का और आपको बता दें ये मुंडक उपनिषद ही है जिसके अंदर हमारे देश का जो एम्बलम में सत्य में वह जयते है ये मुंडक उपनिषद से ही आता है इतना आदरणीय इतना महत्वपूर्ण है तो वो उपनिषद उसके अंदर अंगिरा ऋषि जी बताते हैं कि <clears throat> बहुत अच्छी बात है शौनक तुमको ज्ञान प्राप्त करना है वास्तविक जो कल्याणकारी मोक्षदायी ज्ञान है जीवन का रहस्य पहले बुझाना है तो हम तुमको ये बताएं ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा ज्ञान की इच्छा को बोलते हैं जिज्ञासा ज्ञातु इच्छा इति जिज्ञासा जिज्ञासा सबसे सुंदर इच्छा होती है अगर तुम ज्ञान प्राप्ति के लिए इच्छा करते हो तो तुम्हारे पुण्य फलित हो रहे इसीलिए तो कोई व्यक्ति सत्संग में जाता है उसको बोलते हैं कि ईश्वर की विशेष कृपा है बिलू हरी कृपा मिल ही नहीं समता कोई ज्ञान देने वाला मिलता ही नहीं है बहुत विशेष कृपा है अगर तुमको कुछ जीवन का विशेष रहस्य ज्ञान देने वाला मिल गया और तुम्हारे अंदर इच्छा भी आ गई तो ये जो है जिज्ञासा तो बहुत दिव्य चीज है और ये तुम जानो कि मोटे तौर से दो विद्याएं होती है द्वे विद्ये दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य होती हैं एक अपरा विद्या और एक बोलते हैं परा विद्या अपरा विद्या दुनिया की सब विद्याएं जो हम देख सकते हैं ग्रहण कर सकते हैं उन सब चीजों की विद्या को अपना विद्या बोलते ये जानने योग्य है अगर कोई भी आदमी किसी क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया ये समझ लो उसका जीवन तो पार हो गया अब जितने विशेषज्ञ हैं क्या करते हैं किसी एक विशेष चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं एक इंजीनियर है एक डॉक्टर है एक वकील है एक सीए है किसी एक चीज में विशेषज्ञ हो जाते हैं स्पेशलाइज कर देते हैं और पूरे संसार की आवश्यकताएं उनकी पूरी हो जाती है धन दौलत नाम वैभव इज्जत सब कुछ हो गया एक ज्ञान अच्छा मिल गया ये सब जो ज्ञान इतनी विशेष चीज होती इसीलिए तो बच्चे लोगों को भी अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं लोग बोलते बेटा हम तो नहीं पढ़ पाए चलो तुम अच्छा ज्ञान ले लो एक बार अच्छा ज्ञान ले लिया तुमने तो तुम्हारा जीवन वास्तविक बीमा होता है ज्ञान प्राप्त करना और ये ज्ञान नहीं कि वह डिग्री मिल जाए डिग्री मिल जाने वाला ज्ञान तो कहीं पर भी बिहार की यूनिवर्सिटी से बगैर पढ़ नहीं सकते भैया हाँ? ऐसे अनेकों लोग हैं वहां क्या भाई हमारे यार बिंदु अस्पताल के जो डॉक्टर साहब थे पैसे लेके मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन दिला देते थे तो <coughs> लोगों का धंधा बना हुआ है आजकल एजुकेशन बहुत बड़ा धंधा है बहुत बड़े बड़े उद्योग के बिजनेस के घराने सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोल रहे बढ़िया बढ़िया बहुत उनको मतलब ज्ञान से नहीं है वो तो आजकल अच्छा धंधा है और टैक्स सेविंग भी है जैसे कहीं पे कोई खेती में भी कोई अगर उसकी जमीन है तो उसकी सेविंग दिखा दो तो टैक्स फ्री उसी तरह एजुकेशन में अगर आदमी ने पैसा लगा दिया तो 100 परसेंट टैक्स फ्री हो जाता तो बहुत सारी प्रेरणाएं हैं लोग वो क्यों एजुकेशन में जाते हैं क्यों स्कूल कॉलेज खोलते हैं क्यों मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कोई मेडिकल कॉलेज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कोई कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट बड़े बड़े करोड़ों के संस्थान खोल देते हैं उसका प्रयोजन कुछ कई बार दूसरा होता है लेकिन वो जो लौकिक ज्ञान होता है प्रबंधन का ज्ञान हो गया मैनेजमेंट का ज्ञान हो गया आईटी में आपको एडमिशन मिल गया आप तो सोच लो जीवन बन गया अच्छे घर में शादी भी पक्की हो जाएगी अगर पता लगा कि आईआईटी का है और आईआईएम का है हम तो कल उस दिन पढ़ रहे थे एक वेबसाइट खुली है स्पेशली आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट की शादी के लिए गारंटी तुम्हारी शादी बढ़िया जगह पे ऐसा हो जाएगा अगर ये तुमने अगर एडमिशन ले लिया एक बार यहां से देखिए विश्व के संस्थानों में अपना स्थान रखता है इतनी बढ़िया एजुकेशन एक बार बच्चे लोग कर लेते हैं अभी तो बिट्स पिलानी का बच्चा उसने जहां पे एजुकेशन प्राप्त करा वहां के कोई बाहर के लोग आए 1.4 करोड़ रुपीस पर एनम की उसको जो है वो स्टार्टिंग तनख्वाह दे रहे काहे का पैसा दे रहे भाई अमेरिका ने एक काम बहुत महान करा है कि ज्ञान का पुजारी रहा है अभी जी जो है अपने मोदी जी जापान गए वो आज ही क्योटो की विश्वविद्यालय में गए और वहां पे जो नोबल प्राइज विजेता एक प्रोफेसर थे उनके पास मिले खूब अभिनंदन करा आदर करा ज्ञान के पूजा अमेरिका अगर महान बना तो ज्ञान का पुजारी था हिंदुस्तान अगर एक समय सोने की चिड़िया थी तो ज्ञान का पुजारी था अगर यहाँ पे कोई ब्राह्मणों ने भी कोई ऊंचा स्थान प्राप्त करा था तो ज्ञान के पुजारी थे वो लोग ज्ञान जहाँ पे होता है वहाँ कल्याण होता है बच्चों को नौकरी मिलना काम धंधा होना शादी ब्याह होना ज्ञान की महिमा है जो उनका जीवन बन जाएगा कोई भी क्षेत्र में अगर अच्छा ज्ञान हो डिग्री नहीं ज्ञान हो तो ये जो ज्ञान होना अगर ज्ञान हो जाए लेकिन वहां पे अंगीरा ऋषि जी मुंडक उपनिषद में बोलते हैं कि भैया अपरा विद्या तो भी तुम्हारे लिए कल्याण जीवन में कितना कर देती है लेकिन तब भी ध्यान रखो हे शौनक हम उसको अपरा विद्या कह रहे हैं परा नहीं कह रहे परा बोलते हैं श्रेष्ठ अपरा बोलते हैं जो श्रेष्ठ नहीं है अभी असली श्रेष्ठ विद्या बाकी है तुमने ये सब काम कर लिया लेकिन अपने दिल में झांक के देखो आज भी तुम्हारे अंदर प्यास रहेगी दुख रहेगा संताप रहेगा चिंता रहेगी शोक रहेगा डर रहेगा मन के अंदर भय बना रहेगा आज भी हम दुनिया को प्यासी नजरों से देखते हुए अनेकों प्रकार की चीजों की आकांक्षा रखेंगे अगर कोई परिस्थिति ऐसी नहीं हुई वैसी नहीं होगी आतंकित हो जाते हैं तुमने ज्ञान प्राप्त करा तुम विशेषज्ञ हो तुम आदरणीय हो तुमको यहाँ पे राष्ट्रपति और पूरे नोबेल वाले तुम्हारा पुरस्कार दे रहे हैं लेकिन आज भी तुम्हारे अंदर डर भी होता है चिंता भी होती है मृत्यु का भी भय होता है बोलते ये तुम्हारे लिए विद्या काम की कहा हुई एक प्रसंग आता है कि काशी के एक विद्वान थे बहुत ही बड़े ज्ञानी थे व्याकरण के पंडित थे बहुत बड़े दूर दराज इलाकों से लोग उनके पास जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरे शहर में बड़े आदरणीय थे काशी के विद्वान वैसे भी देश में कहीं पर भी बड़े आदरणीय होते हैं कोई बोलते काशी के विद्वान आए तो बहुत खास चीज होगी भाई बड़े निष्ठावान है वातावरण ही वहां पे ऐसा रहा शुरू से कि वहां पे खूब ज्ञान की पुजारी लोग रहे तो पूरे शहर में आदर भी थे एक बार गंगा पार जाना था उनको तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का समय था वो तो वहां पे घाट पे पहुंचे और पंडित जी बड़े गरिमा में उनका स्वच्छ कपड़े और टीका वीका लगा हुआ भाला पहने हुए अलग ही उनका व्यक्तित्व था जानते थे सब लोग तो एक नाव वाले ने देखा अरे पंडित जी आप सवेरे सवेरे आज आपका दर्शन हो गया आज तो हमारा दिन सफल हो गया महाराज बोलते बेटा जरा हमको उस पार पहुंचा दो बोला हाँ महाराज जी आइए तो कोई दूसरी सवारी नहीं थी केवल बड़ी सी नाव थी लेकिन पंडित जी को अपना अंगोछा निकाला उस पर डाला और महाराज जी बैठे पधारिए बड़े आदर से उनको धन्य होके नाव को ले जा रहा था तो इतना अच्छा भाव देखा पंडित जी ने बोला क्यों बेटा कुछ पढ़े लिखे हो बोला नहीं पंडित जी हम तो नहीं पढ़े बोलते अच्छा कोई पूरी शिक्षा तुमने नहीं प्राप्त करी हो थोड़ा बहुत तो कुछ गणित वणित तो आती होगी ना बोलते नहीं महाराज जी हम तो अनपढ़ आदमी अच्छा अपना नाम लिखना आता है हस्ताक्षर वगैरह कर लेते हो नहीं तो नहीं महाराज जी हम उठा है तो तुम बाहर बढ़िया गुनगुना रहे हो तुमने कुछ संगीत वंगीत सीख लिया है राग वाग कुछ उसका ज्ञान है कि नहीं अरे पंडित जी कहाँ राग हम तो असुर लोग हैं कोई सुर नहीं है हमारे अंदर ऐसी स्थिति हमारे अब एक एक ज्ञान के बारे में पंडित जी पूछते गए और जब वो बोलता है कि नहीं है तो पंडित जी सर्टिफिकेट दे देते बोलते हैं गिनती भी नहीं आती तुम्हारा तो मानो एक चौथाई जीवन खत्म हो गया बेटा फिर दूसरी चीज पूछिए कि हस्ताक्षर बोला नहीं उतना भी नहीं आता अंगूठा छाप तुम्हारे तो आधा जीवन खत्म हो गया अच्छा संगीत वंगीत भी नहीं तो तीन चौथाई जीवन खत्म हो गया उसका बेटे का नाविक का तीन चौथाई जीवन पंडित जी ने कचरा कर दिया अब उसके बाद चौथा प्रश्न पूछे ऐसा गंगा मैया का कृपा हुई संयोग हुआ कि बाढ़ कहीं से एकदम पानी छोड़ा जैसे कहीं पे तीव्र बाढ़ आई नाव हिलने लगी पंडित जी ने दोनों हाथों से नाव पकड़ी तो नाविक ने बेचारे ने बड़ी कोशिश करी बचा लो किसी तरीके से नहीं बच उम्मीद थी कि अब तो गए तो कस के पूछता है पंडित जी तैरना आता है तो पंडित जी बोलते नहीं बेटा तैरना तो नहीं आता बोलते आपका तो पूरा है हमारा तीन चौथाई गया आपका तो पूरा गया भैया ज्ञान वो है जो हमको जीवन में कष्टों से बचाए दुनिया भर को आपने रहस्य जान लिया है समझ लिया है दुनिया को अपने आप को सब यहां रिश्ते नाते समझ गए सुख दुख समझ गए प्रमाण पत्र क्या है उसका आपको जीवन में दुख आता है कि नहीं परिस्थितियां तो आज भी करवटे लेंगी ये तो देवताओं का धर्म है कि उतार चढ़ाव लाएंगे लाएंगे आपके जीवन में जीवन की परिस्थितियां तो धूप छाव की तरीके से होती है आना अवश्य भावी है अगर आप ये सोचो कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आया है तो भैया समझ जाओ काफी देर हो चुकी है पड़ोस पे आपको विजिट करने वाला है कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको दिन मिल रही हो रात ना मिले या कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको बड़ी घोर अमावस की रात मिले और शीघ्र सूर्य उदय ना हो ये जीवन में परिस्थितियों का परिवर्तन जीवन की रीति है ये ऐसा वन है जहां पे फूल और कांटे दोनों हैं आपको कई बार स्वस्थता मिलेगी कई बार रोग होगा आपको आपके ज्ञान की सुंदरता उसमें है कि यहां पर जब जीवन के उतार चढ़ाव आए तब आपको संताप न हो इसके अलावा ज्ञान का कोई प्रमाण नहीं आप सोच लो कि नौकरी लेने के लिए ज्ञान ये तो ना समझ मूर्ख बच्चे इनको अपने ज्ञान की महिमा ही नहीं पता है आप सोचे पुराने हम लोग के गुरुकुल में वहां पर कोई ज्ञान देता था जब बाद में कोई प्रमाण पत्र देता था एक बार हमारे आश्रम में हमारे गुरु जी का एक गुरुकुल है हिमाचल में था बंबई में भी था वहां पढ़ा रहे थे हम उस गुरुकुल के आचार्य थे तो वहां पे अनेकों को वेदांत की शिक्षा देते थे तो एक सज्जन आए बोला कि महाराज जी जरा आपका आश्रम देखना है हमें बोला जरूर एक हमने ब्रह्मचारी को दिया मैं बोला ये सज्जन तो पूरा आश्रम दिखा दो तो उसने आश्रम का पूरा जो है दर्शन करा बड़ा खुश होके वापस आया थोड़ी देर बोला कि राजी कुछ एक दो प्रश्न हैं आप समय हो तो बोला ठीक है पूछो बोलते ये सब यहाँ के बच्चे लोग यंगस्टर्स हैं युवा लोग हैं सब कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सब उस लेते थे हम लोग कोई छोटे बिल्कुल बच्चे नहीं लेते थे क्योंकि वेदांत का अध्ययन कराते थे वेदांत का गुरुकुल था तो वहाँ पे जो है वो सब अच्छे खासे सोचते जी लोग को क्या रूटीन चलता है बोला जो सवेरे पांच बजे उठते हैं ध्यान भजन योगासन प्राणायाम वेद पाठ संस्कृत और उपनिषद और वेद गीता रामायण फिर शाम को भजन करना और ये करना और थोड़ा सेवा करना थोड़ा समय बचे तो रसोई में जाके बर्तन साफ करना झाड़ू लगाना ये सब हम लोग यहाँ पे खुद ही करते हैं बोलते अच्छा ये हफ्ते में कितने दिन बोला कितने दिन या जितने दिन खाना खाते हो उतने दिन किचन में जाते हैं और क्या उतने दिन बर्तन साफ करते हाँ? वो तो तुम सातों दिन करते हो अरे नहीं महाराज वो हमारा मतलब पढ़ाई वढ़ाई मतलब पढ़ाई भी सातों दिन करते हफ्ते में सात दिन महीने में इक्कीस इकतीस दिन जितना है साल में तीन सौ पैंसठ दिन उनसे कोई छुट्टी नहीं मतलब कोई छुट्टी नहीं उनसे क्या महाराज जी निष्ठुर लोग हैं आप लोग कभी एक दिन संडे तो ऑफ दिया करो हम बोला क्या हमारे किसी स्टूडेंट ने चाबी अभी भरी है क्या किसी ने बोला तो नहीं किसी ने नहीं बोला तो हमारे मन की करुणा निकल रही कि एक दिन तो छुट्टी मिलनी चाहिए हम बोला किसी को समस्या है क्या यहाँ उसने कोई समस्या नहीं लग रही है लेकिन एक मानवीयता है इंसानियत है और तो बाद में प्रमाण पत्र देते हैं आप बोले कोई प्रमाण पत्र नहीं तीन साल का कोर्स होता है गीता वेदांत उपनिषद का और बाद में प्रमाण पत्र भी नहीं मैं बोला हाँ भैया प्रमाण पत्र भी नहीं तो आप लोग कोई नौकरी देते हैं यहाँ बोला नौकरी भी नहीं देते फिर क्या जाति है क्या शोषण है लोगों का हा? क्या भयंकर स्थिति है बोला देखो एक और चीज बता दे यहाँ पे हमारी 50 सीटें हैं और हमारे पास 2000 एप्लीकेशन आई थी इतनी लाइन लगी हुई है बोलते क्या दुनिया में मूर्खता है देखो ऐसे ज्ञान बोला एक और चीज समझाते जो यहाँ पे आ जाते हैं वो पहले अच्छी अच्छी नौकरी करते होंगे लेकिन आगे नौकरी का चांस ही खत्म हो जाता है कोई पूछे कि तीन साल कहाँ बर्बाद करके आए हो बोलते आश्रम में बोलते जाओ वही रहो तो आगे भी नौकरी नहीं मिलती तो ये ज्ञान से जो वेदों में है जो गीता में है वो नौकरी के लिए नहीं है वो एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा महाराज जी आप ध्यान करते हो आप ज्ञान प्राप्त करने की बातें करते हो इससे क्या मिला आपको बोलते भाई मिला तो कुछ नहीं कि कुछ नहीं मिला बोलते नहीं ऐसे तुम जो सोचते ना कुछ मिला ऐसे कुछ नहीं बाहर से तो नहीं मिलता है हाँ ये अगर पूछो कि क्या कुछ आपके जीवन में खत्म हो गया है वो हम लिस्ट दे देते हैं चिंता नहीं डर नहीं भय नहीं विकार नहीं अभिमान नहीं मुसीबत नहीं कुछ भी नहीं बचा जो ऐसी विद्या आपको बलवान बना दे सक्षम बना दे भक्त बना दे प्रेमी बना दे निडर बना दे कभी तो सोचो ऐसी भी विद्या होती है क्या वो विद्या हनुमान जी जैसों के पास है वो किसी विद्या के वजह से ही इतने बलवान है वो किसी विद्या के वजह से ही इतने प्रेमी है कोई स्वार्थ है ही नहीं अरे जो दूसरों को राजा बना रहा हो उसको कौन से अपना राज्य की चिंता होगी कौन सी कुर्सी की चिंता होगी कौन सी प्रमोशन की चिंता होगी हम्म? ये तो प्रश्न ही नहीं उनके तो क्या ज्ञान है उनके अंदर तो ऐसा एक ज्ञान होता है जो आदमी को यहां मुक्त कर देता है निश्चिंत कर देता है मस्त कर देता है निडर कर देता है और आपको ये समझ में पता ही होगा इस ज्ञान के लिए पूरे विश्व से लोग इसी भारत देश में आते कहीं नहीं है क्या ये आध्यात्मिक ज्ञान जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देता है वो यही ज्ञान है आपके तो भगवान जी को सदैव इस नजरों से देखो कि वो परा विद्या जिसको मुंडक उपनिषद बोलता है एक अपरा विद्या और एक परा विद्या परा विद्या में अपना ज्ञान हो जाता है अपरा विद्या में जो दृश्य है जो देख रहे हैं अपरा विद्या में जो देख रहा है इसकी एक अलग दुनिया है बहुत विशाल दुनिया है हम कौन है बड़ी दिव्य विद्या है अहोभाग्य है यहाँ पे हर भारतवासी का कि जिसको ये विशेष रूप से हिंदुओं का आपको ये ज्ञान सुनने तक को मिला है जहां पे दुनिया की बड़े बड़े वैज्ञानिकों की कल्पना तक में वो ज्ञान हम लोगों को माताएं पलने में बच्चे को झुलाते हुए वही ज्ञान दिया करती थी उसके का रखते करती हनुमान जी ऐसे दिव्य परा विद्या मोक्षदायी विद्या इसके मूर्तिमान रूप होते हैं ज्ञान और गुण में क्या फर्क है ज्ञान तो अंदर की वो जागृति है और गुण वो मन के सुंदर सामर्थ्य हैं जो आपको इस ज्ञान के लिए भी तैयार कर देते हैं और बाहर का सुंदर स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार कर गुण कुछ मूल्य होते हैं वैल्यूज होती है क्वालिटीज होती है जो क्वालिटीज की विशिष्टता क्या है मूल रूप से आप ज्ञान के पात्र बन जाए आपके अंदर के पट खुलने लगे आपको परमात्मा के अंदर से कृपा मिलने लगे आप कहीं पर भी हो अपने अंदर कृतार्थ होते जी पाए ऐसा ज्ञान तो ये गुण उसके लिए जो है वह साधन है और ज्ञान साध्य है तो जो ऐसे साध्य और साधन के मूर्तिमान रूप होते हैं सदैव हनुमान जी को इस रूप से देखना चाहिए अगर इस नजरों से किसी ने हनुमान जी को नहीं देखा तो उसने अभी हनुमान चालीसा का उस तरीके से अध्ययन करना चालू नहीं करा जिस तरीके से हनुमान जी तो गोस्वामी जी चाहते हैं परिचय दे रहे हैं ग्रंथ लिख रहे हैं रचना कर रहे हैं गीता के अंदर यहां पे भगवान कृष्ण दसवें अध्याय में विभूति योग बताते हैं उसका अध्याय का नाम ही है विभूति योग नामो दशमो अध्याय दसवां अध्याय और विभूति योग में दुनिया की जो भी सबसे विशिष्ट चीजें हैं किसी क्षेत्र में उसका वर्णन करते हैं बोलते हैं इसको हमारी विभूति रेखा जो पहाड़ों में हम हिमालय हैं नदियों में हम गंगा हैं सब शब्दों में हम ओम हैं और इत्यादि इत्यादि धनुर्धरों में हम राज राम जी हैं और पांडवों में हम ही अर्जुन हैं तो हमारी विभूति अर्जुन ये सब अनेकों वर्णन करते हैं वहां पर एक जगह बोलते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम अर्जुन जो बहुत बढ़िया बढ़िया दुनिया की ज्ञान है सबसे महान ज्ञान अध्यात्म विद्या है अपने आप को जानना तो मैं को जानने में ही दुनिया की सब पहली खुल जाती है और अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना कभी आप जा रहे हो रोड के ऊपर कोई पिए हुए पड़ा हुआ है नशे में तो अब पीने वाले ऐसी कहीं पर भी सो जाते हैं थोड़े मस्त हो जाते हैं कहीं पर भी पड़े हुए हैं वहां पड़ा हुआ है अलग भाई कौन है तुम्हारा नाम हो कहाँ रहते हो पता नहीं कहाँ रहते कौन रहता है पता ही नहीं उसको जिस व्यक्ति को अपना परिचय नहीं है वही तो नशे में है वही तो मोह के नशे में है माया के नशे में है वही मोहित तो होता है हम कौन है कहां से आए हो एक कल छोटी कहानी सुनी थी इस संदर्भ में एक राजा साहब थे बड़े विचित्र राजा थे तो उन्होंने अपने राज्य के अंदर ये घोषणा करवाई कि जो सबसे बड़ा मूर्ख है उसको ढूंढो जाके तो बोलो महाराजा सबसे बड़े विद्वान हो ये बोलते तो कुछ समझ में भी आता अपने मूर्ख बोलते नहीं भाई हमारे वहां पे नौ रत्नों तो अनेकों क्षेत्र के विद्वान के हैं एक जो है थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए मूर्ख शिरोमणि भी होना चाहिए एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है वो तो मजा आया मनोरंजन भी होना चाहिए ढूंढ के ला चल जाओ सबको उन्होंने दिया वो बोला अच्छा एक काम करो इतना समय है इतने समय में ढूंढ के लाना है तो बड़ी तलाश वलाश हुई और एक आदमी को पकड़ पकड़ के ले आए महाराज जी ये महामूर्ख आदमी है तो राजा ने कुछ इंक्वायरी करी कुछ प्रश्न वश्न पूछे उनको भी लगा ये तो विचित्री आदमी है कैसा जो है यह एक उन्नों का दृष्टिकोण होता है आदमी की कल्पना नहीं होती अभी कल ही हमारे पास जो है वो एक किसी ने जोक भेजा बोला एक गाड़ी जा रही थी दो ट्रक जा रहे थे एक ट्रक दूसरे खींच रहा था टोकर रहा था उसको तो वहां पे समता सिंह ने देखा और खूब हंस रहा था गला पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा था तो किसी ने बोला क्या हो गया यार ये तो गाड़ी जो जा रही है इसको तुम देख के हंस रहे हो <laughs> देखो तो जरा तुमको नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या मजेदार सीन है ना क्या सीन है भाई इसमें कौन सी बड़ी चीज है बोलते हैं अरे देखो यार दो ट्रक एक रस्सी को उठा के ले जा रहे <laughs> एक रस्सी को उठाने के लिए दो दो ट्रक लगे हुए हैं राम क्या स्थिति है बोला इस एंगल से हम लोगों ने कभी देखा जब जब आपने किसी कोई गाड़ी को दूसरी गाड़ी को करके ले जा रही है दिमाग में भी आया क्या मूर्ख आदमी का दिमाग ही विचित्र तरह से चलता है और उसी में मनोरंजन हो जाता है अब जो भी ये सब मूर्ख लोग हैं अनेकों जोक्स भी चलते हैं सब इसी श्रेणी के लोग होते हैं और बड़ा मनोरंजन आता है जोक का प्रोग्राम मूर्खों की हाँ, स्तुति का प्रोग्राम होता है वहाँ पुरखों की महिमा गाई जाती है उनका ही कुछ संस्मरण करे जाते हैं देखा उसने क्या कहा उसने ये कहा उसने ये करा और सब लोग को आश्चर्य लगता है अरे यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं होता तो राजा साहब को जो है वहां वो एक आदमी मिला वो बोला अच्छा भाई ये उनको उन्होंने बाकायदा गद्दी वद्दी दे दी बोला यहाँ बैठो मूर्ख शिरोमणि आज से तुम्हारे नाम के आगे जुड़ेगा और तुमको एक हम लोहे की छड़ी देते हैं अगर जब भी तुमको अपने से महान कोई मिले तो ये उसको पास ऑन कर देना और ये तुम्हारी दिव्य परंपरा तुम ही जानते हो चलती रहेगा तुम ही सबसे महान उसके शिक्षक हो उसके जज हो तो तुम खुद ही आगे पास ऑन कर बड़ा खुश हो गया बाकायदा बैठता था सुबह तो में अपनी लोहे की छड़ी लेके और वहाँ पे पूरी सभा का जो है वातावरण बदल देता था एक आदमी ऐसा आ जाए तो बड़ा मजा आता था सबको सबका टेंशन दूर हो जाता था स्ट्रेस दूर हो जाती थी इसीलिए हर व्यक्ति को भैया थोड़े बहुत जोक्स वोक सीखने चाहिए घर में टेंशन भी दूर हो जाए कहीं पर भी कोई ज्यादा मुसीबत हो तो एकाध उस नजर को मन में लो जो ये मूर्खों की नजर होती है ना तनाव से मुक्त कर दिया सदैव इतना सीरियस क्यों रहते किस सत्ता सिंह काम आएंगे भाई <laughs> तो ऐसे जो है वो वातावरण बढ़िया बनाते थे थोड़े दिन बाद राजा साहब बीमार हो गए राजा साहब की बहुत तबीयत खराब हो गई और वैद्यराज ने उनको जवाब दे दिया बोला महाराज जी अब तो जाने का समय आ गया है आप मिल लो जिससे मिलना है तो बाल बच्चों को मिलाओ बुला लो रिश्ते नातों को बुला लो हमारी सब कोशिशें जो हैं अब बेकार हो गई हैं तो उन्होंने सबको बुलाया बच्चों को इधर उधर रिश्ते नाते सब जो भी सब बुलाए अपने जो है वह नवरत्नों को भी बुलाए और उन नवरत्नों में मूर्ख शिरोमणि भी थे वो भी पधारे बाकायदा बढ़िया साफा आफा पहन के और लोहे की छड़ी लेके कपड़े राजसी ठाट में पधारे महाराज जी हमने सुना कहीं जा रहे हो आप तो जा रहे हैं मर रहे हैं बोलते हाँ आप कहीं जाते हो ना हाँ यार जा रहे हैं अरे अच्छा, कहाँ जा रहे हैं तो यार पता नहीं कहाँ जा रहे हो पता नहीं कहाँ जा रहे तो कुछ इंक्वायरी तो करी होगी कहाँ जाता है इंसान वो कहता पता नहीं कहाँ जाता है अच्छा कोई मतलब नई जगह जा रहे हो आप बोलते यही समझ लो नई जगह जा रहे हो अनजानी जगह जा रहे हो हाँ, बिल्कुल अनजानी जगह जा रहे हो अच्छा कुछ गाइडेंस वाइडेंस किसी से इसे कुछ नहीं है इसको बड़ा आश्चर्य लगा बोला ऐसा तो हम भी कभी नहीं करते और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा को रस्ते में खाने पीने के लिए ले लिया किसी ने फिर बोलते यार कुछ नहीं ले जा सकते तो बोलते हैं बड़े विचित्र हो महाराजा आपको जा, अच्छा जाना है ये पक्का है बोलते इसी का तो तुम लोगों से मिल रहे हैं जाना तो पक्का है लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता कुछ तैयारी भी नहीं करी कुछ जानकारी भी नहीं निकाली कुछ टिफिन भी नहीं लिया अच्छा पानी की बोतल वोतल तो कुछ क्या बताएं तो बोला नहीं आप नहीं बताओ बताना हमको है बताना उसने अपनी छड़ी ली और राजा साहब को दी बोला महाराज हमको गाई दी हुई है आप हमारे बाप हो ऐसा तो हम भी नहीं कभी करते किसी यात्रा में जाने के लिए जाना अवश्यम वाली है और न पता कहाँ जा रहे न तैयारी कुछ है न जानकारी कुछ है न खाना पीना है और चल पड़ेगा ये महाराज थोड़ा तो बुद्धिमान बनो ना तो ये आदमी को वो ज्ञान हम लोग कहाँ से एकदम आ गए वन फाइन डे किसी परिवार में जो है एकदम खुशियां होने लगती हैं कोई प्रकट हो गया कहीं पे जो है महाराज दशरथ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हो गए कहा से आते हो और थोड़े दिन बाद जो है वहां चले गए महाराज जी गए हमारी भी यहाँ पे जो ईशा एक बैठती थी वो उनका भी देहांत पिछले महीने और सोचते थे कहाँ गई मर के कहाँ गई कितना निकट से देखने को इतनी प्रेम और स्नेह की मूर्ति थी ऐसी मृत्यु अनुभूति होती है एकदम चला जाता है ऐसे चला जाता है कि उसके जीव के निकलने के क्षण ही शरीर एकदम जर्जर होने लगता है क्रियाक्रम शीघ्र न करो तो यहीं सड़ जाता है जब तक जीव रहता है तो शरीर बना रहता है विकास को प्राप्त होता है वृद्धि को प्राप्त होता है सोच पाता है समझ पाता है अनुभूति ले पाता है संवेदनाएं होती है प्रेम होता है सब कुछ होता है अपने जैसे सृजन करने की शक्ति होती है जहां ये जीव गया सब जल जल रहता ऐसे पंच महाभूत वापस पंच महाभूत में वापस जा रहे हैं एक जीवन की ये सुनिश्चित अनुभूति है घटना है जहां सबको एक दिन होना है लेकिन इसके बारे में कभी भी नहीं जाना समझा भी नहीं इतने उलझे हुए हैं जीवन में कि हम आए कहां से हैं कौन और जाना कहां है कुछ भी अता पता नहीं अगर वो मूर्ख शिरोमणि होते तो फट से निकाल के हमको दे देते <laughs> अरे महाराज जी हमको काय दे रखी चाहिए आप किसी से कम थोड़े हो है? कुछ तो जानो हम लोगों के वहां पे जो परा विद्या के नाम से अपरा विद्या आपके धर्म के काम के लिए होती है आजीविका के लिए होती है लेकिन वही शास्त्र जो हमको अपरा विद्या में प्रेरित करते हैं दक्ष बनाते हैं और हम लोगों के भारत देश की अपरा विद्या विश्व स्तरीय थी भले जो एस्ट्रोनॉमी हो मेटलर्जी हो यहाँ पे अनेकों व्यवस्थाएं हो ऐसी अद्भुत प्रकार की लोग तो रामायण पढ़ के जो पुष्पक विमान की कथाएं बोलते हैं कल्पना थी जो हवाई जहाज बनने लगे तो बोले कोई कल्पना नहीं ये सच्चाई है उस समय था ये सब ये सब चीजें थी ऐसे जो है तीर धनुष ऐसे लड़ाइया ऐसे सुदर्शन चक्र ये सब यहाँ के यथार्थ थे अब हम लोगों को जो है जब तक आज विज्ञान थप्पा ना लगा तब तक मानते नहीं जिस दिन विज्ञान ने बोल दिया हम तो हमारे शास्त्र में भी देखो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ कितना कुछ है ये सब हम लोगों के वहां अपरा विद्या बहुत उत्कृष्ट श्रेणी थी लेकिन उसको तो भी अपरा ही और हर व्यक्ति को प्रेरणा होती थी बोलते एक न एक दिन पराविद्या की प्राप्ति को तो मुक्त हो जाओ वो ही श्रेष्ठ है परा है मोक्षदायी है तो हनुमान जी ऐसी विद्या के धनी है अपरा विद्या के भी विशेष धनी है और परा विद्या से अनुग्रहित है राम जी ने एक बार उनसे पूछा हनुमान जी आपका परिचय बोलते हैं प्रभु देह दृष्टिया तो दासो हम अब हमारा परिचय महाराज जी मांग रहे हम जब अपने आप को इस देह के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारा एकमात्र परिचय है कि आपका सेवा करते हैं आपके दास हैं जीव दृष्टिया तो दंश कहा और जो ये जीव है यह आपका अंश है आप अंशी हैं और हम आपके अंश है लेकिन महाराज जी आत्मा के दृष्टिकोण से वस्तु तस्तु त्वमेवा हम इति में निश्चिता मती और गहराई में जाके हमारी आत्मा को देखें तो हम अपने भगवान से अलग नहीं है ये ज्ञान से हनुमान राम जी मुस्कराए बोलते हैं हाँ हनुमान तुम्हारे सब कार्य देख के तो हमको यही पता था कि तुम ऐसे ज्ञान से युक्त हो तुम परा विद्या से युक्त तुम इस मोक्षदायी विद्या से युक्त हो वही व्यक्ति ने अपने जीवन को सफल करा जो ऐसी महान विद्या से युक्त हो जाए हम आज अपने अनेकों शायद कर्तव्यों के वजह से इच्छाओं के संसार के जिम्मेदारी क्लेश आज हो सकता है पराविद्या के लिए हम नहीं जा रहे हैं तो कोई बात नहीं कम से कम हनुमान जी को इस नजरों से देखना हैं अगर हम प्रतिदिन हनुमान जी को इस नजरों से देखते हैं कि हनुमान जी पराविद्या के मूर्तिमान रूप है तो आपके अंदर वो बीज बढ़ता जाएगा आप में वो प्रेरणा होती जाएगी आप हनुमान जी से ऐसी चीज ही मांगते जाएंगे आपकी प्रार्थना में वो सब चीजें जुड़ती जाएंगी हमने आपको पिछली बार बताया था कि रामायण के अंदर ये दोनों चीज के लिए दो गीताएं हैं वैसे तो पूरी रामचरित मानस में सात गीताएं विद्यमान है गुरु गीता है शिव गीता है राम गीता है लक्ष्मण गीता है विभीषण गीता है पुरजन गीता है अनेकों गीताएं हैं रामचरित मानस तो उसमें दो गीताएं हमको ज्ञान और गुण का सागर कौन होता है इसके ऊपर व्याख्या है ज्ञान किसको बोलते हैं ये राम गीता एक अरण्य कांड में प्रसंग आता है उसके अंदर आता है तो जिस समय भगवान जो है चित्रकूट से पंचवटी में चले गए थे एक बार पंचवटी में बहुत ही सुंदर शांत रमणीय वातावरण था राम जी बैठे हुए थे तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा प्रभु कुछ हमारे मन में प्रश्न है आपकी आज्ञा हो तो पूछें कि भगवान माया क्या होती है वैराग्य क्या होता है ज्ञान क्या होता है भक्ति क्या होती है और ईश्वर जीव का भेद क्या होता है ये पांच प्रश्न पूछे ये पांच प्रश्नों का उत्तर श्री राम गीता में वहां पे राम जी ने खुद लक्ष्मण जी को समझाया बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये सब जुड़ा हुआ है दरअसल ज्ञान के भिन्न भिन्न पहलू हैं और इस ज्ञान का जो वहां पे राम जी ने वर्णन करा है कि इसको लक्ष्मण वास्तविक ज्ञान इसी को समझना उसको समझने के लिए माया को जानना वैराग्य को जानना भक्ति को जानना जीव और ईश्वर का भेद जाना ये सब उसके अंग हो जाते हैं तब तुमको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के बारे में वो बताते हुए कहते हैं कि संक्षेप में हम तुमको ये बताएं ज्ञान मान जहां एक नहीं उसको तुम ज्ञान समझो जहां तुम्हारे अंदर सब अभिमान खत्म हो जाता है ऐसा दिव्य प्रसाद होता है अभिमान ऐसा क्लेश लाता है समस्त प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये सब चीजों की जननी अभिमान होती रावण की दुर्दशा लंका में क्यों हुई क्योंकि रावण महाभिमानी जहां पर भी प्रसंग आया गोस्वामी जी ने बोला रावण अरे यार तो भयंकर अभिमान अभिमान जहां आया इसका परिवार है काम क्रोध लोभ तो मोह मद माश्चर्य सब इसी के पीछे पीछे आते पूरा संसार सब चिंताएं सब मुसीबतें मान जो कांटा है अपमान किसको बोलते हैं अपने आप को छोटा संकुचित परिभाषित मान लेना अभिमान शब्द का निष्पत्ति होती है मां धातु से संस्कृत का शब्द है मान मां धातु से बनता है इसका मतलब होता है अपने आप को नापना आप अगर भगवान से एक हैं तो आपको नापा नहीं जा सकता है और अभिमान क्या लीला करता है कि आपको छोटा बना देता है कि आपको नापने योग्य बना देता है अभिमान होता है हमको छोटा बनाने वाला संकुचित बनाने वाला जो हमारी अस्मिता पहचान है कि हम तो महाराज जी छोटे जीव हैं हम तो सीधे साधे व्यक्ति हैं महाराज जी अभी यह जन्मदिन हुआ था और आपकी कृपा बनी रहे मरण दिन जल्दी ना आए वो थोड़ा लंबा खींच जाए हाँ, जाना तो है एक दिन समझते हैं हमारा जी जब भी जाना हो ना आराम से बगैर बीमारी के जाए लटक के न जाए हाँ, इतनी की कृपा कर देना और अंत में आपका नाम भी भगवान जाते जाते लेते रहे इतनी भी कृपा कर देना अर्थात हमारा जन्म भी है हमारा मरण हमारी परिभाषा है हमको हमारे हिसाब से किसी ने नहीं जाना तो हमको अच्छा नहीं लगता है हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए तो ये मैं ऐसा है जो छोटा है अभिमान अपने आप को छोटा बना देता है तो राम जी लक्ष्मण जी को उस प्रसंग में बताते हैं कि ज्ञान मान जहां ये कहू नहीं हे लक्ष्मण तुम्हारे अंदर ये ऐसा सूर्य का उदय होता है कि सब धुंध खत्म हो जाती है सर्दी जो है समय हो देखो सूर्य उदय का क्या प्रताप होता है जहां सूर्य उदय होता है सब धुंध धीमे धीमे छटने लगती है सब गायब हो जाता है ज्ञान का सूर्य जिसके हृदय में उदित होता है वो अभिमान से मुक्त हो जाता है ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से उसका एक लक्षण है और अपने आप को कुछ बहुत दिव्य देखता है ईश्वर से एक हो जाता है ईश्वर से एक होने का मतलब कोई सामान्य नहीं है ईश्वर सर्वोत्कृष्ट है और आपको वो प्रभु प्राप्त हो गए अरे बाहर की छोटी मोटी इच्छाएं प्राप्त हो जाती है उसी में नाच लेते हैं दुनिया के मालिक से आप एक हो गए सब छोटा पना खत्म हो जाता है ज्ञान मान जाने कहू नहीं और ये सब होता है लक्ष्मण जब व्यक्ति अविद्या माया से छूटते हुए विद्या माया का आश्रय लेता है ये दोनों प्रसंग वहीं आते हैं माया वो है जो दो प्रकार की होती है एक अविद्या माया एक विद्या माया एक संसार की तरफ ले जाती है एक सत्संग में भजन में ज्ञान में पाठ में इन चीजों की तरफ अच्छा लगने लगता है तब आप विद्या माया का आशीर्वाद आपको मिल है और यही धीमे धीमे धीमे धीमे इसकी ऐसी दिव्य यात्रा होती है कि आदमी इतने महान ज्ञान का पात्र हो जाता है और जैसे जैसे यह विद्या माया का आश्रय लेते संसार में आदमी कमल के फूल की तरह रहते कुछ चिंता नहीं होती वैराग्य का आशीर्वाद ये सब पूरा प्रसंग ही जुड़ा हुआ है और ईश्वर से एक हो जाता है तो वो प्रसंग जो है आप पढ़ना उसको बहुत सुंदर प्रसंग है मननीय है यहाँ पे तो जैसे गोस्वामी जी ने ज्ञान सागर शब्द का प्रयोग करते हुए हमको वो सब ज्ञान की तरफ प्रेरणा देती है और गुण सागर गुण सागर के बारे में जानना हो तो विभीषण गीता है लंका का विभीषण गीता वो प्रसंग है जहाँ पे विभीषण जी जो है युद्ध के मैदान में रावण रथवत में सुसज्जित होके कवच वच धारण करके मुकुट सब युक्त होके खड़ा था एक अच्छे योद्धा की तरह से हाथ में जो है धनुष बाण भी है भाले भी हैं और गदा भी है और क्या क्या सब अस्त्र शस्त्र पीछे रथ में रखे हुए हैं और दूसरी तरफ से राम जी नंगे पैर बगैर कवच वच के केवल हाथ में धनुष बाण किए हुए मुनियों का वलकल वस्त्र धारण करे हुए अकेले खड़े हुए तो विभीषण के मन के अंदर बहुत ही जो है दुख होता है बोलते ये तो बड़ा अनुचित हो रहा है भाई युद्ध होना चाहिए समान लोगों के बीच में होना चाहिए तो उसने जो है एकदम तो भगवान को प्रणाम करा पास में गया उसने प्रभु मन हमारा बड़ा क्षुब्ध हो रहा है ये गलत है कहा और ये छोटा मोटा योद्धा है पूरी दुनिया जानती तीनों लोक जानते रावण का मतलब क्या है ऐसे रावण के साथ आप युद्ध कर रहे हैं प्रभु और ऐसे खड़े हुए रावण रथी बिरथ रघुवीरा रघुवीर विरत खड़े हुए हैं और वो रथी है वहां से वो प्रसंग प्रारंभ होता है तो भगवान मुस्कराते हैं वो बोलते हैं विभीषण चिंता मत करो वो निश्चित रूप से एक रथ पे बैठा होता है लेकिन तुमको पता है एक और रथ होता है जिस रथ के ऊपर बैठ के मनुष्य जीवन में विजयी होता है वो रथ तो और कुछ होता है और अगर तुमको ये पता है तो तुमको कभी चिंता नहीं होगी कि ऐसा कोई रथी है तो वो विजयी होएगा ऐसा ब्रह्म रखना और वो कौन सा रथ है कुछ गुणों का रथ ऐसे कुछ गुण होते हैं मनुष्य के अंदर जिन गुणों से युक्त होने के उपरांत आप असमर्थ हैं गरीब हैं असहाय हैं आपके पास धन दौलत सामर्थ्य और अनेकों प्रकार का वैभव पूरी सेना सेवकों की टेक्नोलॉजी और ये वो दुनिया भर का कुछ नहीं आपके पास तो भी इतिहास प्रमाण है कि अनेकों लोग कहां से गरीबी से उठ के कहां शिखर तक पहुंच जाते हैं कुछ नहीं होने के उपरांत भी विजयी हो जाते हैं ये एक जगह नहीं अनेक अनेक जगह प्रमाण इतिहास के अंदर युद्धों को देखो महाभारत का युद्ध देखो कहां पे जो है वह कौरवों की ग्यारह अक्षौल्य सेना थी और इनके पास सात अक्षौल्य सेना क्या अनुपात ग्यारह और सात और हाँ, तो भी विजयी हुए वहां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महान अतिरथी लोग थे कुछ नहीं हो पाया जिस रथ के ऊपर बैठ के इंसान विजयी होता है वो रथ कुछ और होता है और जिसको ये नहीं पता है वो सोचता है मेरे भगवान कहा हमारे पास भी पैसे होते तो हम भी पैसे कमा लेते थोड़ा सा जो है नाम होता है कोई कनेक्शन होता है कोई नेताओं से होता हम भी आप आगे बढ़ गए जगो बहुत बचपना हो गया है अभी तक तुम मोह की निद्रा में सो रहे हो सत्संग करो जानो कि कौन सी चीज के वजह से सफल और सुखी होते हैं अभी उतना भी नहीं जाना है पागलों की तरह मोहित होकर दुनिया की तरफ भाग रहे हो जो पैसा आ जाए नाम हो जाए देखो रावण है ना पैसे की कमी है क्या गाड़ी घोड़े की कमी है उसके पास खुद भी मरा अपने पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया कोई नहीं बचा सका ऐसे समस्त संपत्ति और समृद्धि से युक्त होने के उपरांत भी कुल का नाशक बच गया ये जानो यार कौन सी चीजें विजय के लिए हेतु हुआ करती वो कौन से गुण होते हैं जिन गुणों से युक्त होने के उपरांत आपकी विजय होगी घर बना लिया पैसा रख लिया सोचे सुखी हो जाओगे एक झटके में खत्म हो जाता है कहीं के नहीं रहते घर घर की कहानी चल रही है क्योंकि तुमने प्राथमिकता उसी को दी तुम्हारे अंदर मोह था कि ये सब चीजें तुमको सुखी करती हैं तुम जीवन में विजयी हो जाओ वहां बहुत सुंदर प्रसंग है वो कौन से गुण है अभी तो हम लोग का प्रधानमंत्री कौन है चाय वाला कितनी बड़ी बात है कितने गरीब घर के अंदर पैदा हुए रेलवे स्टेशन में चाय बेचते थे उनके पिताजी की छोटी दुकान थी क्या उनके पीछे बैकिंग थी निश्चित रूप से अगर कुछ उनका इनहेरिटेंस है कुछ उनकी संपत्ति है तो वो निष्ठा है लगन है अभी उसी दिन जो है अपने जो रक्षा मंत्री है और वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी उनका कोई इंटरव्यू दे रहा था बोलते हैं आपको इतने दिन मोदी जी के साथ काम करने में कैसा लग रहा है तुमने पूछा ही है तो बताए बोलते आपने तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम करा है बोलते हैं हाँ करा था उन दिनों क्या होता था शाम को छह बजे हम फ्री हो जाते थे ऑफिस से और यहीं पे जो है थोड़ा क्लब में आते थे चाय पानी पीते थे कॉफ़ी पीते थे यार दोस्तों से भी मिलते थे बातें भी करते थे परिवार के लिए टाइम भी देते थे अभी तो तुम 11 बजे ऑफिस में आओ तो वहीं मिलेगी <laughs> बोलते केवल इतना नहीं है कि न खाते हैं न खाने देते हैं न सोते हैं न सोने देते हैं ऐसी दुर्घटना हो गई है बोलते यद्यपि हमारे मन के अंदर बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश को अगर कोई उद्धत करेगा कोई निकालेगा तो ऐसा सच्चा मेहनती निष्ठावान व्यक्ति निकालेगा इस गर्द से कोई अपना स्वार्थ नहीं है अपनी जो है वह ओथ टेकिंग सेरेमनी में परिवार के लोग नहीं आए प्रधानमंत्री का निवास 12 एकड़ में दिल्ली में बना हुआ है अकेले रहते <laughs> ये नहीं है कि जब आएंगे तो यशोदा बहन चाय बना देंगे ढोकला बना के रखेंगे हाँ? न यशोदा बहन को बुलाया न वहां पे किसी घर वालों को बुलाया कुछ नहीं चलता और सपने केवल देश का कल्याण हो देश का उद्धार हो वहां पे जाने के बाद जापान में बड़ी खुशी लगी हमको कि क्योटो जापान की पूर्व की राजधानी सांस्कृतिक नगरी उसको देख के बनारस किया है बोला हमको अपना बनारस जैसा बनाना है सपना केवल ही देखते कुछ गुण है विशेष लगन है निष्ठा है निस्वार्थता है निश्चिंतता है आत्मविश्वास है सच्चाई है बार किसी को वचन दे दिया कोई जो है उससे दूर हटने का प्रश्न नहीं है कुछ गुण होते हैं जो इंसान को जीवन में विजयी भी बनाया करते हैं वो गुण क्या होते हैं जिसके वजह से आप विजयी हो जाओ बहुत दिन दुनिया के प्रति अंधविश्वास कर लिया है हमने सोचा था दुनिया वाले बोल रहे हैं पैसा कमा लेंगे उपनाम कर लेंगे गाड़ी ले लेंगे घोड़ा ले लेंगे घर बना लेंगे तो सफल कहलाएंगे तो मूर्खी बन गया उपनिषदों में बोलते हैं कि ऐसे लोग अंधे नहीं वनीय माना यथांधा आगे चल रहा है वो भी अंधा है और पीछे जा रहा है वो तो बेचारा है अंधा वो तो ना समझ अंध अनुकरण हो रहा है जो गुणवान होता है राम जी ने खड़े खड़े वहां पे वो बताया शौरज धीरज तेरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका पूरा जो है एक रथ के दृष्टांत से उसको रथ ही दिखाई पड़ रहा था ना विभीषण को एक रथ देख रहा था बोलते विभीषण अब ये रथ सुनो इस रथ पे जिस दिन तुम बैठोगे देखना अभी थोड़े समय बाद क्या इसका परिणाम होने वाला है और तुमको हमारे इस ज्ञान का इस बातों का प्रमाण मिल जाएगा जिस दिन तुम इस रस पे बैठो तुम्हारे जीवन में विजय निश्चित होती है बड़े सपने देख लो गारंटी है बीमा है ये ऐसे गुण जो है वो ही बीमा उत्पन्न करते तुम सोच लो कि जो है वो फलाने जगह जाके हम लड्डू चढ़ा के आए चढ़ा लो यार लड्डू वड्डू चढ़ाओ प्रेम से बांटो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अपने दिल में वो ज्ञान रखो वो प्रार्थना करो उन देवता के पास जाके ऐसे धर्म रथ के अंदर बैठने का आशीर्वाद मांगो और देखो आत्मावलोकन करो कि आज तुम कौन से रथ पे बैठे हुए और राम जी कौन से रथ की बात कर रहे हैं बहुत सुंदर प्रसंग है ये दोनों वो जो राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया उसका नाम है लक्ष्मण गीता और ये विभीषण गीता विभीषण जी को दी गई तो ये प्रसन्न वशात तो आप इन दोनों का विशेष चिंतन मनन कर लेना बहुत सुंदर प्रसन्न और फिर आपको एक और सुंदर चीज पता लगेगी हनुमान जी को किस नजरों से देखना चाहिए जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कौन सा ज्ञान कौन से गुण हमारे हनुमान जी दे पाए हनुमान जी का परिचय प्राप्त करना हो तो इस प्रकार से परिचय प्राप्त करना पड़ता है अगर आपके अंदर कल्पना भी नहीं है हनुमान जी में गुण कैसे हैं ज्ञान कैसा है तो क्या भजन करो हमारे पास एक बार आरएसएस के व्यक्ति आए उसके स्वामी जी कभी आप वेदांत की चर्चा खूब करते हैं गीता की करते हैं रामायण की करते हैं कभी भारत माँ की जय भी कर दिया करो <laughs> बोला है हम भारत माँ की तो जय कर रहे हैं हमारी भारत माँ इसी अध्यात्म के ज्ञान की तो मूर्तिमान रूप है बोलते नहीं वो तो हम समझते हैं बोला अच्छा तुम्हारे आरएसएस के जो गुरु गोलवालकर जी थे उनका तुमको ग्रंथ पता है उनकी रचनाएं पता है उनकी निष्ठा पता है पूरे वेदांत उपनिषद गीता में रमा करते ना तुम उनके भक्त हो तो तुम भी रमा करो ना तुम ये देखो कि जहां पे उपनिषद गीता रामायण का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो ही हमारे भारत माँ की विशिष्टता है बोले नहीं वो तो ठीक है लेकिन भारत माँ की जय बोले बहुत अच्छी बात है जय तुम जब कार्यक्रम करना तो हमको बुला लेना हम भी जय कर देंगे आके लेकिन तुम किस दृष्टि से जय कर रहे हो हम क्या देख के जय कर रहे हैं इसमें बहुत भेद रहता है जिसको भारत मां का ज्ञान ही नहीं पता है वो क्या जय करेगा भारत माता की जय अच्छा किसकी जय करोगे भैया बताओ अरे भारत माँ अरे ठीक है भारत माँ क्या मतलब भारत माँ मतलब भारत माँ बोला अच्छा भारत माँ किसका प्रतीक है अरे जी ज्यादा प्रश्न मत करो भारत माँ की जय <laughs> ये बड़ी साइन बोलो तुम न तुमको ये पता भारत की महिमा काय के लिए है भारत की विशिष्टता काय के लिए है कहीं पर गीता का प्रवचन चले तुम कभी जाओ नहीं अच्छा राम जी के नाम से जय जय सिया राम बोलते हो दिल से बताना एक बार बैठ के दिन में 108 बार राम जी का नाम लेते हो क्या तो मतलब टाइम नहीं मिलता क्या कहना चाहते तो बहुत है टाइम नहीं मिलता कैसे तुम बातें कैसे नकली जीवन जी रहे न तुम्हारे अंदर राम जी के प्रति भक्ति एक भाजपा के हमको नेता मिले यहाँ पहले मेयर थे लोग वो हमको मिले हम बोला कि भाई आप लोग बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के लिए कम से कम कभी तो जो है वह गीता रामायण का अध्ययन करा करो ना मैं महाराज जी अब किसको बोले अब कहाँ टाइम मिले अभी फिर हमारी भाजपा आध्यात्मिक संस्था बन जाएगी हाँ? अब आध्यात्मिक संस्था हम लोग राजनीतिक काम कैसे करेंगे हम बोला नमस्कार तुम्हारा रास्ता अलग है हमारा रास्ता हमारे लिए हमारी भारत माता हमारे राम जी हमारे हनुमान जी इस ज्ञान और इस गुण के प्रतीक हैं जो हनुमान जी के ज्ञान को नहीं जानता क्या जय बोलेगा वो उनकी किसकी जय बोल रहा है जो हनुमान जी के गुणों को भी नहीं जानता है उसके मुंह से जय शोभा भी नहीं देती है कुछ भी नहीं पता है उसको क्या से जय कर रहा है इसलिए गोस्वामी जी बोलते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ज्ञान और गुण का स्मरण करो कोशिश करो और उनको इसी नजरों से देखो ऐसा ज्ञान है जहां से भक्ति की सरिता प्यार निश्चिंतता निर्भीकता मुक्ति निकला करती है पर ऐसा गुण है कि कोई भी विजय हो उनकी सुनिश्चित है ऐसी क्वालिटीज है जब ऐसे ज्ञान और गुण से हनुमान जी को देखोगे तब पता लगेगा जय हो महाराज जी हम आपकी जय थोड़ी कर रहे हैं हम तो ये बोल रहे हैं ऐसा ज्ञान और ऐसा गुण जहां है वहां केवल जय ही होगी अगर हमारा अपना जीवन अगर हमारे बच्चों का जीवन हमारे देश का समाज का कल्याण शिष्यों का कल्याण अगर दिल में सही में चाहते हो तो उनको भी ज्ञान और गुण का साथ दो खुद भी ज्ञान गुण से युक्त हो हम लोग उन हनुमान जी की यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं भजन कर रहे हैं जो ऐसे ज्ञान और गुण के साथ है बहुत सुंदर प्रारंभ है जय हनुमान ज्ञान कुंभ सागर जय कपी सत्यम लोक सागर तो ये चौपाई फिर अगली वाली अगले समय के लिए आज इतना है श्रीराम जय राम